परम पूज्य रामानंद जी सरस्वती मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर द्वारा ईशावास्तोपनिषद पर त्रिदिवसीय प्रवचन सत्र स्थान श्री रामकृष्ण मठ धनतोली नागपुर प्रस्तुत है दिनांक 7 मार्च उन्नीस का प्रथम प्रवचन संपूर्ण सृष्टि को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाला पर ब्रह्म परमात्मा भगवत स्वरूप संत वृंद एवं आत्म स्वरूप श्रोत्र वृंद आज एक ऐसे महापुरुष के जयंती समारोह में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिसके जीवन के विषय में यदि विचार किया जाए तो साक्षात उपनिषद प्रतिपादित तो उपनिषद पुरुष के रूप में जो है हमें उसके जीवन का दर्शन होता है भारतीय परंपरा बड़ी अद्भुत रही है उसको समझने का प्रयास बहुत लोग करते रहे हैं आज भी कर रहे हैं पर उपनिषद ज्ञान के बिना भारतीय परंपरा का वास्तविक दर्शन हमको नहीं हो सकता प्रत्येक धर्म का एक मूलक ग्रंथ होता है उसी के आधार पर सारी व्यवस्थाएं धार्मिक बनती और यदि मूल आधार छूट जाए तो वो व्यवस्थाएं निष्प्राण हो जाती हैं वैदिक सनातन धर्म इसका मूल ग्रंथ वेद है जैसा हम सभी लोग जानते हैं वेद के विषय में अधिक मुझे यहाँ नहीं कहना है पर इतना तो आप सभी जानते हैं कि चार वेद हैं और वही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ है और हमारे धर्म को सनातन धर्म भी इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने प्रथम वेद की अभिव्यक्ति की जिसलिए वेद सनातन है सार्वभौम है मानव मात्र के लिए है वेद सनातन है इसलिए हमारा धर्म भी सनातन है दूसरे मजहबों के विषय में आप देखेंगे कोई 2000 वर्ष प्राचीन है कोई 1400 वर्ष प्राचीन है क्योंकि उनका मूलक ग्रंथ उतने वर्ष पहले ही निर्मित हुआ वेद सनातन होने के कारण मानव मात्र के लिए होने के कारण यह अपना धर्म सनातन वैदिक धर्म है उस वेद में चार वेद प्रसिद्ध हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद उसमें से यजुर्वेद जो है यजुर्वेद में दो प्रकार का विभाग है शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद जिस उपनिषद के विषय में अपने को विचार करना है वह शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग का उपनिषद है वेद के प्रकरणों पर यदि विचार करें तो मुख्य रूप में दो विभाग पहले दिखाई देता है एक मंत्र भाग है और एक ब्राह्मण भाग है ब्राह्मण भाग में ही आरण्यक इत्यादि विभाग हैं पर मुख्य विभाग दो ही है मंत्र और ब्राह्मण और ब्राह्मण विभाग को यदि छोड़ दिया जाए तो मंत्र भाग के उपयोग का ही हमको ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग माने संहिता भाग को मिलकर के वेद संज्ञा होती है उसमें शुक्ल यजुर्वेद का जो संहिता भाग है मंत्र भाग है उसका चालीसवा अध्याय हम लोगों का यह ईसावास्य उपनिषद है इसमें दो शाखाएं इस समय प्रसिद्ध हैं शुक्ल यजुर्वेद की एक काणु शाखा प्रसिद्ध है एक माध्यंदिनी शाखा शाखा प्रसिद्ध है दोनों में यह उपनिषद है उपनिषद के विषय में ये समझना चाहिए ये मंत्र भाग में भी आपको उपनिषद मिल सकता है ब्राह्मण भाग में भी आपको उपनिषद मिल सकता है बहुत से उपनिषद ब्राह्मण भाग के हैं और बहुत से उपनिषद मंत्र भाग के हैं पर उनकी उपनिषद संज्ञा क्यों होती है जब इस पर हम विचार करते हैं तो मूल तत्व मूल परमात्मा तत्व के स्वरूप के विषय में प्रतिपादन जहाँ है उसी भाग को हम उपनिषद कहते हैं चाहे वह मंत्र भाग में हो और चाहे वह ब्राह्मण भाग में हो यह मंत्र भाग का उपनिषद है इसके विषय में विचार आरंभ करने के पहले कुछ बातें भूमिका के रूप में हम लोगों को जान लेनी चाहिए क्योंकि कर्म के विषय में ज्ञान के विषय में बहुत प्रकार के मत बहुत प्रकार के भ्रम जो है वह साधक जनों के चित्त में बनेगा कर्म एक सामान्य शब्द है पर शास्त्र में जब कर्म शब्द का प्रयोग आता है तो उसका कुछ अर्थ दूसरा होता है एक कर्म इसको कहते हैं हम कि खाना पीना इत्यादि व्यवहारिक जो कर्म है यह भी कर्म है इसमें कोई संशय नहीं पर इसको प्राकृत कर्म शास्त्रों में कहा गया है इसको नैसर्गिक कर्म कहा गया है इसको पशु कर्म कहा गया है क्यों पशु कर्म कहा गया है कि पशु भी इस व्यवहार में अत्यंत निपुण रहता है वो आपने भोजन के अर्जन के विषय में अपनी रक्षा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के अनुमान प्रमाण को लेकर के उसकी कुशलता में किसी प्रकार का अंतर नहीं कहीं कहीं तो अनुमान करने में पशु मनुष्य से भी आगे बढ़ जाता है मनुष्य अनुमान नहीं कर पाता कि अभी वर्षा होगी पर पशु को अनुमान हो जाता है वह भी संग्रह करता है अपने लिए तो ये जो कर्म है इस कर्म के लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं ये जो व्यवहारिक कर्म है इनके लिए कहीं भी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह निसर्ग से हमको प्राप्त है इसलिए इस कर्म की चर्चा शास्त्र नहीं करता है दूसरे प्रकार का कर्म ये होता है जहां से मनुष्यता का आरंभ होता है वह है शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय कर्म के अनुसार जब हमारा जीवन चलने लगता है तब हमारे जीवन में मनुष्यता का आरंभ होता है क्योंकि इसके पहले का जो हमारा जीवन है वह स्वार्थ और भय अथवा स्वार्थ लोभ से प्रेरित चलता है पर जब शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन चलना आरंभ हो जाता है तो हमारे जीवन में एक कर्तव्य का उदय होता है शास्त्र ऐसा करने को कहता है जिसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई वह हमारे अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस प्रकार का विधान करता है जब शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन चलने लगता है तब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है हमारा जीवन कर्तव्य प्रधान बनता है तो यह शास्त्रीय कर्म है शास्त्रीय कर्म में भी कुछ विभाग क्यों क्योंकि मनुष्य है इसमें विभिन्न प्रकार की कामना है यदि केवल कर्तव्य कर्मों का ही निरूपण करे शास्त्र और मनुष्य की कामना की पूर्ति के विषय में कुछ भी न कहे तो मनुष्य के लिए सर्व सर्व सार्वभौम रूप से मनुष्य के लिए शास्त्र नहीं हो सकता है इसलिए उसमें भी एक विभाग आता है कामना के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्मों का निरूपण है उस कर्मों का निरूपण क्यों है क्योंकि कामना के लिए लोग कर्म तो करते ही हैं नहीं वही कर्म आप शास्त्र के आधार पर जब करने लगेंगे शास्त्र के आधार पर अपने कामना की पूर्ति आप कर, करने लगेंगे तो आप ऊपर उठेंगे और शास्त्र को छोड़ करके यदि कामना की पूर्ति में आप लगेंगे तो आपका जीवन नीचे जाएगा की ही अंतर शास्त्र के द्वारा कामना को प्राप्त करने करना और शास्त्र को छोड़ करके कामना को प्राप्त करने में ही अंतर हो जाता है इसीलिए अपने यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ बताए गए पर प्रथम पुरुषार्थ धर्म बताया गया और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष बताया गया मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो है वह शांत रहना चाहता है सदा शांत रहना चाहता है ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता है जो नित्य हो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ही करना पड़ेगा इसलिए मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है और धर्म ही प्रथम प्रतिष्ठा है धर्म पर खड़े होकर के यदि आप अर्थ को पकड़ेंगे तो आपके अंदर तृप्ति उत्पन्न होगी आपका जीवन तृप्त होगा और धर्म को छोड़ करके यदि आप अर्थ को पकड़ेंगे तो आपके जीवन में कभी भी अर्थ जो है तृप्ति उत्पन्न नहीं कर सकता आपके जीवन में अभाव ही उत्पन्न करेगा आप करोड़पति हो सकते हैं पर उस समय आपके जीवन में करोड़ का करोड़ का अभाव निरंतर खटकता रहेगा क्योंकि दूसरा तीन करोड़ वाला हो गया इसलिए आपने पहले जो है वह धर्म को प्रतिष्ठित बनाया धर्म को आधार बना करके जब यह अर्थ का उपार्जन करता है तो इसके जीवन में एक संतोष होता है एक तृप्ति होती है और मृत्यु के वह पहले ही तृप्त होता है और व्यक्ति जब जगत से तृप्त हो जाता है तो निश्चित मोक्ष के तरफ चलेगा इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं जब तक जगत की वासना इसके अंदर है तब तक मोक्ष की तरफ चल नहीं पाता है इसलिए धर्म का हमारे यहाँ एक विशेष महत्व है व्यवहार की दृष्टि से दूसरे कर्म उसमें है नित्य कर्म जिसको कहते हैं नित्य कर्म के, के साथ किसी भी प्रकार के फल का संबंध नहीं है कर्तव्य मात्र का संबंध है सत्यम मद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेव भव आचार्य देवो भव अतिथिदेव भव माही हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि जो ये परंपराएं हैं ये नित्य कर्म है यह केवल कर्तव्य बुद्धि से करने के हैं इसके साथ संधि नहीं है थोड़ा सूक्ष्म विचार और करें जैसे आज जो महापुरुषों के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं वहां पर जो महापुरुष कार्य कर रहे हैं उनका क्या दृष्टिकोण है उनका दृष्टिकोण यही है उसके फल के साथ स्व का संबंध नहीं है फल के साथ परमेश्वर का संबंध हो फल के साथ संपूर्ण जनता का संबंध हो फल के साथ दूसरे का संबंध हो और कर्म हम करते हैं ये जो है वह फल से रहित जो कर्म है ये जो कर्म है वह निश्चित रूप में फलाभिसंधि रहित होने के कारण हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का मोक्षाभिमुख करने का हेतु बनता है इसी प्रकार के कर्मों का ये महापुरुषों ने प्रतिष्ठा की यद्यपि इसमें एक चीज और ध्यान देने की है यहाँ पर भी कर्म के प्रति कर्तृत्व तो है पर फल के साथ संबंध नहीं है फल के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं कर्तृत्व के साथ संबंध है इसलिए शास्त्र में गीता तो इसको कहा ससन्यासी च योगी च न चाहते फल को दृष्टि में न रख करके जो कर्तव्य कर्म का पालन करता है वो फल त्याग होने के कारण सन्यासी है और वो अपने कर्तव्य कर्म में निश्चित होने के कारण संयमित होने के कारण योगी है वह भले ही जो है अग्नि का परित्याग नहीं किया है भले ही जो है वह अपने क्रिया का परित्याग नहीं किया है पर वह सन्यासी भी है योगी भी ऐसे कर्म की बात आती है इसी इसी जो है वेद में और यह हमको एक स्तर में ले जाती है कि जहां पर जो है वह मोक्ष के ज्ञान को धारित करने के लिए हमारा जीवन समर्थ हो जाता है एक आपको आश्चर्य होगा कि दो ही मार्गों का वर्णन गीता में भी आता है और दो ही मार्गों का वर्णन उपनिषद में भी आता है कर्म मार्ग का वर्णन और ज्ञान मार्ग का वर्णन दो ही का वर्णन आता है भक्ति का वर्णन नहीं आता यद्यप जगह जगह पर उपासना है पर जहां दो मार्ग की बात आएगी जहां पर दो प्रकार के मार्ग की बात आएगी वहां पर कर्म और ज्ञान यही दो मार्ग की बात आती है भक्ति मार्ग की बात पृथक से उपनिषद में कहीं नहीं आती इसीलिए गीता में भी अर्जुन को भगवान ने कहा कि दो मार्ग जो है सृष्टि के आरंभ में ही हमने स्थापित किया ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम यही बताया ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि भक्ति भी एक प्रकार का मानस का कर्म है ये जो बाह्य कर्म है इसमें शरीर इत्यादि की प्रधानता होती है और भक्ति में केवल मन की प्रधानता होती है भक्ति भी एक मानस कर्म होने के कारण इसका पृथक विभाग नहीं किया गया और इसमें एक विलक्षणता और है यह भाव है इसलिए कर्म के साथ आप इसको जोड़ दिए तो कर्म में सोने में सुगंध के समान जो है वह प्रकृष्टता आ गई आप इसको निष्काम भाव से यदि जो है अनुष्ठान करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी ये बीच में भक्ति जो है इसको अपने यहाँ पृथक मार्ग नहीं थोड़ा और व्यवहारिक दृष्टि से इसको हम समझ लें कि जैसे हम कर्म करते हैं हमारे जीवन में भी तीन धाराएं बह रही हैं कर्म धारा भी बह रही है ज्ञान धारा भी बह रही है और जो है भक्ति धारा भी बह रही है परंतु हम जो भी कर्म कर रहे हैं या ज्ञानार्जन कर रहे हैं हमारा भाव जिस लक्ष्य को पकड़ करके रखेगा हमारे कर्म के फल का विनियोग भी वही होगा हमारे ज्ञानार्जन का विनियोग भी वही होगा इसलिए भाव जो है हृदय के अंदर जो भावधारा है ये पृथक कोई जो है मार्ग नहीं है पृथक जो है वह किसी प्रकार का साधन नहीं है नहीं कर्म और जो है ज्ञान ये दोनों को जो है वह ठीक दिशा प्रदान करने वाला बल प्रदान करने वाला योग्यता प्रदान करने वाला ये भक्ति का धारा है यहाँ समझे कर्म भी बिना ज्ञान के नहीं होता है भक्ति भी बिना ज्ञान के नहीं होती क्योंकि कर्म के लिए भी ज्ञान प्राप्त करना चाह करना पड़ता है यज्ञ करना है तो यज्ञ का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो यज्ञ हम कैसे करें और भक्ति के लिए भी जो जो है जिस जिसके प्रति भक्ति करनी उसका स्वरूप समझना पड़ेगा भक्ति कैसे करनी है इसका स्वरूप करना कैसे समझना पड़ेगा भगवान के विभिन्न प्रकार के गुणों को समझना पड़ेगा और ये सारा ज्ञान प्राप्त करके तभी भक्ति होगी इसलिए इसमें भी ज्ञान है पर उपनिषद इत्यादि में जिस ज्ञान की बात आती है वह दो प्रकार का एक ज्ञान ये है कि जो संपूर्ण जो है विशिष्ट ज्ञानों का आधारभूत व्यक्ति तत्व है जिसको हम परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं जिसको स्व का स्वरूप मानते हैं जिसमें संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है ऐसा जो व्यक्ति स्वरूप जो मूल सत्तात्मक ज्ञान है उस ज्ञान को लक्ष्य बना करके ही ज्ञान धारा चलती है और भक्ति के लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है क्योंकि भगवान का जो सगुण सागर विशिष्ट जो विग्रह है वो विशिष्ट विग्रह में जो गुणाधान है जो स्वरूप है उसको लेकर के उस ज्ञान को लेकर के ही जो है वह उपासना होती है इसलिए उपासना के लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है ये थोड़ा सा अंतर है कर्म के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं आता क्यों कर्म के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं आता उपनिषदों में इसलिए कि कर्म जो होता है वो विशिष्ट अहंता को लेकर के विशिष्ट स्वरूप को लेकर के शरीर इत्यादि कल्पित पदार्थों की प्रधानता बना करके इसी प्रधानता को लेकर के कर्मानुष्ठान होता है इसलिए कर्म के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं आता है अज्ञान शब्द का प्रयोग आता है अविद्या शब्द का प्रयोग आता है कर्म के लिए पर ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं आता है भक्त उपासना के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है यह सोपाधिक है और जो है वह जो ज्ञान शब्द का प्रयोग मुख्य ज्ञान में आता है वह निर्वाधिक ज्ञान करता है इससे जब हम समझेंगे तो दो धारा हमारे सामने आती इसी उपनिषद का ये जो उपनिषद है इस उपनिषद पर पहले भी भाष्य हुए हैं सायण भाष्य शंकराचार्य भगवान का भाष्य ये सब जो है कारण शाखा को लेकर के इन भाषों की भाष्यों की निर्मित हुई है माध्यंगिनी शाखा को लेकर के उबट भाष्य महीधर भाष्य इत्यादि भाष्यों का निर्माण जो है वह माध्यंगिनी शाखा को लेकर के हुआ है दोनों में कोई खास अंतर नहीं है कहीं कहीं शब्दों का अंतर है इतना मात्र आप समझे अब प्रकृति विषय पर हम लोग आवे कि जब इस प्रकार आप देखते हैं कि दो मार्ग देखते हैं और भगवान ने गीता में ये बताया कि सृष्टि के आदि से ये दो मार्ग चले सृष्टि के आदि में वेद का जो है वह प्रादुर्भाव है इसलिए आपको इस उपनिषद में या अन्य उपनिषद में ये दो मार्गों का बहुत ही स्पष्ट विवेचन जो है वह मिलेगा और इन दोनों मार्गों को बड़े ही ध्यान से हमको अपने जीवन में समझना पड़ेगा नहीं तो कर्म ज्ञान के विषय में बहुत प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती गीता में ज्ञान के विषय में भी बताया आपको कहीं कहीं भगवान मैं से मूल मूल ज्ञान तत्व का निर्देश करते हैं कहीं सविशेष ऐश्वर्य युक्त ज्ञान तत्व का निर्देश करते हैं और कहीं जो है अर्जुन के रथ पर बैठे रथ चलाते हुए में जो है वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं शब्द का प्रयोग करते हम लोगों के जीवन की भी यही स्थिति है मालूम होता है शरीर देखने से यही मैं हूँ पर ऐसा नहीं है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है पर सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो है जो वास्तविक में आपका स्वरूप है वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से ढका हुआ है इसी प्रकार गीता में ज्ञान के विषय में कहते हैं भगवान अविभक्तम विभक्तेशु यह पश्यति ये विभक्त जो है सारा का सारा जगत विभक्त दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक अविभक्त तत्व है वो अविभक्त तत्व वैसे का वैसे रहता है जैसे एक पर्दा है पर्दे के ऊपर तमाम चित्र दौड़ रहे हैं उसमें भेद ही भेद दिखाई दे रहा है उसमें तीव्र गति दिखाई दे रही है जहां पर ये दिखाई दे रहा है चित्र वहीं पर पर्दा है जो अनेजत है जिसमें अभी तक कंपन उत्पन्न नहीं वो कंपन से रहित है वो भेद से रहित है और वो वही है जहाँ की जो है चित्र दिखाई दे रहा है अपने को इसी प्रकार नाम रूपात्मक की सारी की सारी सृष्टि जहां पर हमको दिखाई दे रही है वहीं पर इसके इसको सत्ता देने वाला एक तत्व है इसको चेतनता प्रदान करने वाला एक तत्व है जो अनियोजित है जिसमें न भेद है और न किसी प्रकार की क्रिया है और वही वस्तुतः जो है मूल तत्व जो है जिस जो जो है वह लक्ष्यभूत तत्व है ज्ञान के द्वारा जिस तत्व को हमको समझना है वह वही तत्व है उसका दर्शन आपको यही करना पड़ेगा उसके लिए कोई देश काल की सीमा नहीं देश काल की सीमा नाम रूपात्मक विभाग में है पर उसमें किसी प्रकार के देश काल की सीमा नहीं इतना अंतर जरूर है उसके लिए एक आपको दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी वह दृष्टि भी आपके अंदर है पर जब तक ये माइक दृष्टि हमारी काम करती है यही सजग रहती है तब तक वह दृष्टि हमारी बंद के समान रहती है बहुत बार आप ऐसा देखते हैं कि स्वप्न में भी आपके नेत्र खुले रहते हैं पर वह स्वप्न के नेत्र खुले रहते हैं जागृत के नेत्र नहीं खुले रहते हैं उससे स्वप्न का ही पदार्थ दिखता है जागृत का पदार्थ नहीं दिखता है पर जागृत में जो हमारे नेत्र खुले हैं इससे माया का पदार्थ ही दिखेगा नाम रूपात्मक पदार्थ ही दिखेगा वास्तविक पदार्थ नहीं दिखेगा क्योंकि ये नेत्र माइक पर आपके अंदर एक ऐसी दृष्टि है जो ये माइक दर्शन के समय बंद है और वह किसी विभिन्न माध्यम से खोलने की प्रक्रिया है शास्त्र में वह खुल जाने के बाद फिर आपको जो दिखेगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा प्रत्येक चित्र के साथ आप पर्दे तक पहुंचेंगे जब वो दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी तो प्रत्येक चित्र के साथ आप पर्दे को पर्दे तक पहुंचेंगे चित्र दिखने पर भी आपकी बुद्धि पहुंचेगी कहा आपकी बुद्धि पर्दे में पहुंचेगी चित्र में नहीं दिखेगी एक विलक्षणता चित्र नहीं दिखेगा ऐसी बात नहीं नेत्र है ये माइक नेत्र खुला है तो चित्र दिखेगा ही परंतु आपका ज्ञान नेत्र यदि खुला है तो उस चित्र का भेदन करके जैसे जो है जब एक्सरे हम लेते हैं तो ये कपड़ा इत्यादि चमड़ा इत्यादि उसमें बाधक नहीं होता है उसकी किरणें अंदर जाती हैं और जो हड्डी है नस है उसका चित्र आपके सामने उपस्थित है इसी प्रकार जब आपका ज्ञान नेत्र खुलेगा तो ये जो है वह व्यवहारिक जो सत्ता है यह व्यवहारिक सत्ता बाधित होगी किस प्रकार बाधित होगी कि आपकी दृष्टि इसी चित्र के अंदर से प्रत्येक चित्र से पर्दे में होगी और प्रत्येक चित्र से पर्दे में पहुंचेगी तो प्रत्येक व्यवहार में प्रत्येक दृश्य में आप एक ही जगह पहुंचेंगे दूसरी जगह नहीं परंतु थोड़ा विचार है सच्चाई से विचार करना पड़ता है शास्त्र को कभी कभी सच्चाई जो है हमको बड़ी कड़वी मालूम होती है पर यदि आपको रोग निवृत्त करना है तो कटु औषधि भी हमको पीनी पड़ती है नहीं तो रोग नहीं निवृत्त बहुत सच्चाई है जिसको हम झुठलाना चाहते हैं और वस्तुतः साधक वही है जो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए शरीर चिता पर पड़ा है ये सच्चाई है प्रत्येक शरीर मृत्यु के मुख में पड़ा है ये सच्चाई है पर इसको स्वीकार करने को व्यक्ति तैयार नहीं होता है जब तक तैयार इसको इसको जो कहते हो स्वीकार करने के लिए आप जब तक तैयार नहीं होते हैं तब तक आप सच्चाई के जिज्ञासु नहीं हैं आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं और सच्चाई को आप जानना नहीं चाहते हैं तो सच्चाई कैसे कोई समझा सकता है आपको ये सच्चाई है कि शरीर के साथ जगत का सारा संबंध टूट जाता है आपका जो है जड़ संबंध आपका चेतन संबंध आपका पारिवारिक संबंध हो आपका सामाजिक संबंध हो आपका जो है वो धन का संबंध हो आपके घर का संबंध हो ये सारा का सारा संबंध टूट जाता है एक सच्चाई है पर इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए इस सच्चाई को जो कहते हो अपने हृदय में धारण करने के लिए हमारी तैयारी जब तक नहीं है तब तक ये बात आपके आपको आपको कैसे समझाई जा सकती ठीक ही स्थिति है जब तक जगत की कामना हमारे अंदर है जगत छोटा नहीं है ये जगत आप दिख दिखाई देता है इतने जगत नहीं है शास्त्र के अनुसार जब हम जगत देखते हैं तो जगत बहुत लंबा चौड़ा है ये बीच में हमारा मनुष्य शरीर है इस मनुष्य शरीर से ऊपर तमाम प्रकार के शरीरों की सृष्टि है और अंतिम जगत जिसको हम कहते हैं वह ब्रह्मलोक है वहां तक मानव का उत्कर्ष है और यदि मानव शरीर में प्रमाद हो गया तो अपकर्ष भी होता है यहाँ से पशु शरीर में आप चले गए पक्षी शरीर में चले गए कृमि शरीर में चले गए कीट शरीर में चले गए नीचे आप जो है मनुष्य शरीर से जो है वह निम्न कोटि के शरीर में आप पहुंच गए तो आपने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया और मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया तो आपका उत्कर्ष जो है ब्रह्मलोक पर्यंत है ये दोनों जो है अपकर्ष उत्कर्ष है और जब तक हमको इसी जीवन के समान उत्कृष्ट जीवन की इच्छा है तब तक अभी हम संसार ही चाहते हैं उपनिषद दृष्टि से तब तक संसार चाहते हाँ मनुष्य शरीर से ऊपर देवता बनना चाहते हैं देवताओं में इंद्र बनना चाहते हैं इंद्र से भी ऊपर उठना चाहते हैं ब्रह्मा बनना चाहते हैं आप ब्रह्म लोग जाना जा चाहते हैं पालक शक्ति विष्णु बनना चाहते हैं अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं ऐश्वर्य की पराकाष्ठा जो है वैदिक वांग्मय में ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हिरण्य गर्भ पद है ये ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है इससे बड़ा ऐश्वर्य नहीं इन्हें पूर्ण शक्ति ग्राहिता है यहाँ पर जो है उपाधि जो है वह पूर्ण शक्ति को अभिव्यक्त करती है इसलिए इससे बड़ा ऐश्वर्य नहीं और नीचे जैसे जैसे जाते हमारा ऐश्वर्य छोटा होता जाता है हमारा ज्ञान इत्यादि संकुचित हो जाता होता जाता है तो मेरे कहने का यहाँ इतने तात्पर्य था कि जब तक अभ्युदय चाहते हैं हम संसार में अभ्युदय चाहते हैं तब तक वास्तव में हम जो सत्ताभूत ज्ञान तत्व है सत्ताभूत जो तत्व है उस तत्व की अभी हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई माने उसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं यानी मुमुक्षु संज्ञा हमारी नहीं अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक हमारे अंदर कामना है वासना की गंध भी हमारे अंदर है तब तक हम जगत चाहते हैं तब तक मोक्ष नहीं चाहते एक सच्चाई ये अलग चीज है कि भाई कामना तो है कामना की पूर्ति कैसे होगी शरीरधारी ही कामना की पूर्ति कर सकता है आपको शरीर की जरूरत रहेगा तब तक मोक्ष की कल्पना नहीं हो सकती इसीलिए दो प्रकार का विभाग किया एक मार्ग का विभाग ऐसा किया जिसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है वहां पर विभाग किया किसके लिए कि जगत से तृप्त हो गया किसी भी प्रकार की कामना उसके अंदर शेष नहीं है उसके लिए एक अधिकार बनाया एक मार्ग बनाया और दूसरा जो है मार्ग ये बनाया कि ये जो अभ्युदय चाहता है ब्रह्म लोक तक पहुंच करके बड़ा भारी ऐश्वर्यशाली होना चाहता है स्थिति को प्राप्त करना चाहिए उसके लिए कर्म मार्ग और उसी में भक्त जो है भाव इत्यादि उपासनाओं सभी का जो है वह विभिन्न प्रकार का सहयोग है इसको हम समय पर आपको स्पष्ट करेंगे यहाँ थोड़ी बात और समझें जितना हमने समझाया एक पशु कर्म है एक शास्त्रीय कर्म है शास्त्रीय कर्म में एक सकाम कर्म है और एक कर्तव्य अनुसार कर्म है और कर्तव्य कर्म को प्रधान लेकर के ही जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा धर्मों का जो है वह निरूपण है एक कर्म और भी दिखाई देता है जिसको गीता अकर्म कहती है कि वह दिखाई देता है पर कर्म है नहीं कौन सा कर्म है वह वह महापुरुषों के जीवन में अभिव्यक्त है जो ऐसे तत्व में प्रतिष्ठित हो गए हैं पर जहां जहां पर कर्म है ही नहीं है जो अनियजत है जो जो पर्दा स्थान में पहुंच गए हैं जहां पर कोई क्रिया है ही नहीं पर ऐसे स्थान में पहुंच करके भी जब तक उनका शरीर इत्यादि प्रारब्ध शेष रहता है तब तक उनके शरीर इत्यादि से होने वाले जो कर्म है उस कर्म को गीता अकर्म कहती है हम लोगों को इन कर्मों का विभाग बुद्धि में न रहने के कारण बहुत बार भ्रम हो जाता है तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में होने वाला जो कर्म है उसमें परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति ही अनुत होकर के काम करती है दूसरा कोई निमित्त ही नहीं है उनके कर्म का यदि अनुग्रह को छोड़ दिया जाए तो कोई निमित्त नहीं है उनमें कोई स्वार्थ नहीं है उनमें कोई भय नहीं है वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं जहाँ किसी प्रकार की वासना किसी प्रकार की इच्छा का समावेश ही नहीं है तो उसके जो है शरीर इत्यादि से होने वाला जो कर्म है वह परमेश्वर की तरफ से संचालित कर्म है वह अनुग्रह शक्ति मूलक कर्म है और उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वह केवल कल्याण रूप ही होता है दूसरा नहीं होता तो ये महापुरुषों के कर्म जिनको अकर्म कहा गया उनके विषय में विचार नहीं करना है क्योंकि वह अकर्म है उनके विषय में विचार नहीं करना सकाम कर्मों के विषय में विचार आता है और कर्तव्य कर्म के विषय में विचार आता है तो ये दो प्रकार के जो है एक कर्म मार्ग हो गया और एक जो है वह संपूर्ण फलों का जिसने परित्याग कर दिया है उसके लिए एक ज्ञान मार्ग इसको लेकर के इस उपनिषद में विचार आएगा और उपासना का कर्म से क्या संबंध है इसको लेकर के सुप्रसिद्ध में विचार आएगा पहले ये दो विभाग जो है हमारे सामने श्रुति रखती है प्रत्येक उपनिषद में दो विभाग है एक में नहीं देखिए मुंडक को हम देखते हैं जब पहले तो एक अपरा विद्या का विभाग है जिसमें पठन पाठन वेद इत्यादि सभी आ जाता है वह अपरा विद्या का ही विभाग है पर ये या तद अक्षरम अधिगम्य थे उसके लिए शब्द नहीं दिया शब्द नहीं दिया सारे वेदों को तो अपरा विद्या में रख दिया पर जिस जिसके द्वारा जिस विद्या के द्वारा जिस ज्ञान के द्वारा मूल छत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला वो अक्षर तत्व तो अधिगम हो जाता है उसका नाम है परा विद्या ये ज्ञान वाला वहां पर दो विभाग इस प्रकार का कर दिया कहीं भी जाएंगे आप सनत कुमार जाते सनत कुमार के पास नारद जाते हैं और वहां भी यही प्रश्न आता है वो भी कहते हैं मैं जो है चारों वेदों को जानता हूँ वेद को जानता हूँ शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष जो विद्या भूमि विद्या सभी विद्या जानता हूँ कहा जब सभी विद्या जानते हो तब तो तुम ज्ञानी हो कहा मैं ज्ञानी तो हूँ ब्रह्म विद्या भी जानता हूँ छत्र विद्या भी जानता हूँ उपनिषद भी पढ़ा देता हूँ अरे फिर मेरे पास क्यों आए मेरे पास क्यों आए कहा कि उसमें हमने सुना है आप जैसे महापुरुषों से फलश्रुति सुनी है तरक शोक मात्मिक आत्मेकता को शोक नहीं होता तथापि सोचा भी भगवान पर भगवान मुझे शोक होता है शोक होता है इसलिए वो विद्या में नहीं जानता कि जिससे शोक की निवृत्ति होती है मैं वेद तो जानता हूं परिषद तो जानता हूं पर वो विद्या नहीं जानता नहीं तो शोक क्यों होता ये सच्चाई को स्वीकार करना है जब तक हम अपने जीवन में सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक जो है वह जीवन की धारा सीधे नहीं जाती नारद इतने बड़े विद्वान हैं इतने बड़े तपस्वी हैं इतने बड़े भक्त हैं पर उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि हमको शोक ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि आप सच सच्ची वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं हाँ झूठी वस्तु प्राप्त करना चाहें तो अलग चीज उसके लिए कोई जोड़ देने की जरूरत नहीं है पर यदि सच्ची वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य पर आपको खड़ा होना पड़ेगा आपको अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत के विषय यदि दस वर्ष हमको सुख नहीं दे पाए तो अब अगले वर्ष में सुख कैसे दे देंगे आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि रूप देखते देखते हमारे नेत्र जवाब दिए पर आज यदि तृप्ति नहीं हुई रूप देखने के विषय में तो कल तृप्ति कैसे हो जाएगी कहीं धोखा में हमारा जीवन जा रहा है तब आप शास्त्र के उन नियमों को खोजेंगे कि तृप्ति का हेतु कहाँ है तृप्ति का हेतु जगत में जब आपको नहीं दिखेगा तब आप जगत को छोड़ देंगे तब परीक्ष लोकान चितान ब्राह्मणों निर्वेद में माया तब आप देख लेंगे कि कर्म का फल चाहे यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत हो यह समस्या तो वहां भी बनी रहेगी तब आपको इससे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और वैराग्य जब आपको अंदर से उत्पन्न हो जाएगा तब आप ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं ज्ञान बहुत उत्कृष्ट चीज है पर पचनी चाहिए हम बढ़िया से बढ़िया भोजन आपको खिलावें पर आपकी आंख खराब कर दी जाए तो क्या वो भोजन आपके शरीर में लगेगा भोजन बहुत बढ़िया है इसलिए हमको खाना चाहिए ये मतलब नहीं है हमको पच क्या सकता है जो पच सकता है उसी को हमको खाना चाहिए जिसको हम पचा सकते हैं उसी पर हमको खड़ा होना चाहिए तो फिर जो है वह भी पचने की स्थिति हमारी बनेगी क्योंकि हमारे आते मजबूत होगी कमजोर नहीं होगी और जब पचाने की शक्ति आ जाएगी तो फिर जो है वह आपके काम की चीज हो जाएगी यहाँ पर उपनिषद में ये जो दो विभाग किया सभी उपनिषदों में विभाग किया इसलिए बहुत बार मैं कहता हूँ यदि ईसावास्य उपनिषद का दो मंत्र कोई जान लेता है तत्वतः तो दो मंत्र समझ लेता है तो सारे उपनिषद का रहस्य सारे वेद का रहस्य समझ लेता है इससे अधिक कुछ है नहीं जो ये दो मंत्र है इससे अधिक कुछ नहीं स्पष्ट रूप में ये विवेचन पहले मंत्र में आता है देखिए निशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य मैं आपको उपनिषद के जो है पर्यालोचन पूर्वक जो अर्थ इसका होता है वो अर्थ आपको बताऊ मैं बताऊंगा यद्यपि इसका कई प्रकार का अर्थ लोगों ने किया है उसको संकेत में मैं कहूंगा पहले उपनिषद दृष्टि से इसका मुख्य अर्थ क्या है आप विचार कर लीजिए मैंने अधिकारी बता दिया जो केवल मोक्ष चाहता है केवल मोक्ष चाहता जगत की वस्तु नहीं चाहता उसमें एक विशेषता ही आएगी क्योंकि जगत में दो चीजें एक साध्य हम कहते हैं एक साधन कहते हैं जैसे स्वर्ग साध्य है तो यज्ञ साधन है आप यज्ञ क्यों करेंगे जो सकाम यज्ञ है क्यों करेंगे स्वर्ग प्राप्त करना चाहेंगे तो यज्ञ करेंगे आप जैसे साध्य आपका ब्रह्मलोक हो गया उसके लिए अहंग्रहोपासना है अहंग्रहोपासना आप क्यों करेंगे इसलिए करेंगे कि उससे ब्रह्मलोक हमको प्राप्त हो जाए ये साध्य साधन रूप में हमारी ऐसा काम करती है हम पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं इसके द्वारा हमको विभिन्न प्रकार के भोग प्राप्त होंगे भोग प्राप्त करना है पर इकट्ठा क्यों कर रहे पैसा पैसा तो नहीं खाया जाता पैसे का तो उपभोग ने ऐसे नहीं होता नहीं वो साधन है वो साध्य है तो साध्य साधन मिलकर के एक एक ये क्षण मानी जाती है साध्य और साधन ये दोनों मिलकर के एक एक स्तंभ इसीलिए बृहदारण्य उपनिषद वो इसी मंत्र का जो है ब्राह्मण आरण्य और उसमें विभाग कर दिया कामयमान अकामयमान ब्रह्मलोक तक की तुम कामना करते हो तो फिर चलो यहां से चलो जाया में से आप मुझे स्त्री चाहिए क्यों चाहिए यज्ञ करूंगा मैं उत्तरेण हम लोग को जाइए इस लोक को मैं जीतना चाहता हूँ वित्तम में साथ धन मुझे चाहिए क्यों चाहिए यज्ञ करूंगा नहीं तो यज्ञ कैसे करूंगा कर्मणा पितृलोक उसके द्वारा पितृलोक को मैं जीत लूंगा मुझे देव वित्त भी चाहिए देवता विषय ज्ञान भी चाहिए क्यों चाहिए उसके द्वारा जो है उपासना के द्वारा मैं देवलोक को जीतूंगा तो ये साध्य साधन ईषणा जो है ये चलती तो वहां पर दो विभाग कर दिया भाई कामयमान अकामयमान कामना नहीं है तो क्या कर्तव्य आपका है अभिभागा कोई भी कामना नहीं है तो आपका कर्तव्य क्या होगा ज्ञान थोड़ी बात यहां पर और समझे कि ज्ञान में और भावना में कुछ अंतर है अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं आपने शास्त्र से लक्षण सुना कि व्यापक ब्रह्म सबको सत्ता दे रहा है और आप फिर ऐसी भावना कर रहे मैं ब्रह्म हूं पर मैं से आप शरीर में जा रहे मैं से तो साढ़े तीन हाथ हो रहा है और भावना क्या कर रहे हैं ब्रह्म की भावना कर रहे हैं इसका फल नहीं है ऐसा नहीं बहुत फल है अरे आप पत्थर की मूर्ति रखते हैं और भावना क्या करते विष्णु है विष्णु की भावना करते हैं तो विष्णु से फल की प्राप्ति होती है ऐसी बात नहीं है ये उपासना जो है वो भले ही भावनात्मक हो भले ही अध्यास रूप हो पर तो यह व्यर्थ नहीं है भाव का फल बहुत बड़ा होता है आप लोग व्यवहार में भी अनुभव करते हैं एक डॉक्टर के प्रति किसी का भाव नहीं है? और उसने दवा दे दिया आपको दवा काम नहीं करती है और वही दवा एक दूसरे डॉक्टर ने दे दिया जिसको आपने की भाव शक्ति ने स्वीकार किया है आपको वही दवा काम करने लगती है द्रव्य शक्ति अपने अपने जगह है पर भाव शक्ति के अनुमोदन के बिना द्रव्य शक्ति काम करने में कमजोर पड़ जाती है यदि किसी महात्मा के प्रति आपका बहुत तीव्र भाव है उसने राख उठा करके दे दिया तो आपका रोग निवृत्त हो जाएगा क्योंकि आपकी भाव शक्ति चैतन्य के साथ मिलकर के वह सर्व काम सिद्ध करने वाली है इसलिए भाव को ऐसा नहीं समझिएगा कि ये व्यर्थ चीज है इसमें तो बड़ी भारी ताकत बहुत बड़ी ताकत इसलिए उपासना की ताकत बहुत बड़ी ताकत है इसको ऐसे जो है विचार से हम उड़ा नहीं सकते परंतु ज्ञान में बिल्कुल इसमें अंतर ज्ञान में भावना नहीं है भावना आपके अधीन है ज्ञान जो है आपके अधीन नहीं है जैसे भावना आप कुछ भी कर लें कहीं भी कोई भावना कर ले लेकिन यदि आपकी आंख खुली है सामने वस्तु है तो आपके चाहने से नहीं होगा वो वस्तु का ज्ञान आपको होगा ही चाहे आप चाहे चाहे न चाहे भावना कभी अभावना से दूर हो जाती है मान लीजिए एक कल्पना करिए एक कोई टापू है जहां पर दूध किसी ने नहीं देखा है सुना है कि दूध सफेद होता है उसका ज्ञान पक्का है कि नहीं ज्ञान पक्का है पर ज्ञान अनुभव में नहीं है अनुभूत ज्ञान नहीं है भावनात्मक ज्ञान है शब्द से एक परोक्ष ज्ञान भावनात्मक उसको है पर उसको अनुभव नहीं है अब कोई तार्किक वहां पहुंच गया उससे कहा भाई तुम्हारे देश में दूध होता था दूध तो होता है कहा सफेद होता है कहा सफेद तो होता है पर तुमको तुम्हारा ज्ञान कमजोर है कहा क्या कमजोर है कहा गाय लाल होती है काली होती है पीली होती है सफेद होती है सफेद गाय का दूध सफेद होता है काली गाय का दूध काला होता है पीली गाय का दूध पीला होता है अब तो उसका ज्ञान गया अब उसमें डगमग पर आ गया उसने सोचा बात तो ठीक है तर्क में पट जाता है काली गाय का दूध काला होता होगा पर जिसने दूध निकाल करके देख लिया है उसका गला दबाओ और लिख दे कि दूध काला होता है तो भी उसका अनुभव कट नहीं सकता कैसे काट लिखने से कट जाएगा वो चाहे तो भी नहीं काट सकता है उसका गला दिबा करके कोई कहवा ले तो भी नहीं कट सकता है कटेगा कैसे अनुभूति कटती ज्ञान एक अनुभूति है उस अनुभूति को आप भी नहीं काट सकते दूसरा भी नहीं काट सकता एक बार उद्भूत हो गया तो उसको काट नहीं सकता यहां पर यह प्रसंग आया यहां पर अका अका कामयमान जो है उसके लिए ये उपदेश है क्या उपदेश है कि अभी तक तुमको नाम रूपात्मक जो जगत दिख रहा है